तुझे लाए तो से तुझे लाए तो से लाए तो से लाए बोलू तो से लाए बोलू तो से Good morning. سنا بسيا ثم لا نسيا ومن thank you ಬಾ thank you समझा ना क्या बोतल तो जाना था जाए जाए चलो करो कैसे जाए तुम तुम गा रहे हो गाओ एक टाइम सुनेंगे फिर हम गाएंगे मुंह दर्द है ना जल्दी गाओ कितना टेस्ट तो बेकार हाँ बिल्कुल तो याद है प्लीज गाओ ना चार लाइनें सुने हम देहाती गाना गाएंगे बनी जल्दी से यह कर हां जल्दी जल्दी कोई भी गाओ ना तुम लाए बनी जल्दी से नहीं हो रहा अभी बनी जल्दी से हो जा तैयार तुझे लेने सखियाँ खड़ी बनी जल्दी से हो जा तैयार तुझे लेने सखियाँ खड़ी बनी टीका तू तो पहनो खुश हो के बनी टीका तू तो पहनो खुश हो के तुझे बहुत दिनों की थी यार तमन्ना पूरी हुई बनी जल्दी से हो जा तैयार तुझे लेने सखिया खड़ी बनी झुमका तू पहनो खुश हो के बनी झुमका तू पहनो खुश हो के तुझे बहुत दिनों की थी आत्मना पूरी हुई बनी जल्दी से हो जा तैयार तुझे लेने सखिया खड़ी बनी घूंघट तुकारो खुश हो के बनी घूंघट तुकारो खुश हो के तुझे बहुत दिनों की थी तमन्ना पूरी हुई बनी जल्दी से हो जा तैयार तुझे लेने सखिया खड़ी बनी सिंदूर तू डालो खुश हो के बनी सिंदूर तू डालो खुश होकर तुझे बहुत तीनों की थी तमन्ना पूरी हुई बनी जल्दी से हो जा तैयार तुझे लेने सखिया खड़ी गाजी दिए इसमें लग रहा है माइक पर अरे नहीं नहीं अरे ये गाले की तब सुनाइएगा हाँ। नहीं नहीं सुना नहीं आप सुना सुना प्यार को इस तरह से बुलाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं जो सच था उसे एक बहाना बनाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं वो मासूम सूरत वो भोली निगाहें रहेंगी सदा दिल में आबाद होकर न पूरी

साजन का हर धड़कन पर माना मैंने भूल गए भैया भूल नहीं गाना नहीं चल दिया तो हमें आता ही नहीं तुमको या तुमको गाना होगा कैसे हम कर दे अरे आता है जरा इतने को लोग जरा <laughs> हाँ। नहीं फिर एक बार हमें हाँ। नहीं आता हम गाएंगे हाँ। हम गाएंगे हमको आता ही नहीं हाँ चलो गाइए ना जल्दी हमें आता ही नहीं गाएंगे तो। Nothing to के मिलना मिलके झुक जाना हो कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना हुआ यू सामना कया दिल थामना हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे हम तुम सनम सातो जन्म मिलते बजते बजते बज जाएगी इस दिल की बस्ती हो तभी जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती बजते बजते बस जाएगी इस दिल की बस्ती हो तभी जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती हमारी दास्ता कैसा ले जाओ हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे हम तुम सनम सातो जन्म मिलते रहे हाँ। ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रह जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया रह जाएंगे अरे रह जाएंगे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे तुम हो कली तो गुलाब हम हैं गुलाब हम हैं हो तो लगा लो तो शराब हम हैं जी शराब हम हैं कहते हैं लोग की खराब हम है तेरी हर बात का जवाब हम है लाल जवाब हम है कभी ले ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे सुन मेरे बंधु लता तेरी होता तू पीपल में होती कवर लता तेरी तेरे गले माला बनकर बड़ी मुस्काती रे सुन मेरे साथी रे फिर नहीं आता बस इतना अरे हाँ। हाँ, चाहिए गाना में और गाए और गाए हां वाला से पिया वो गाना हां पिया बिना पिया बिना पिया बिना बसिया बाजना बाजना बाजना पिया बिना पिया बिना पिया बिना पिया बाजे ना बाजे ना बाजे ना पिया बिना तुम्हारी सदा बिन नहीं एक सुनी मोरी नगारिया के चुप है पपी अपनी हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी फिर प्यार में सजना दूर दूर हो गए फिर प्यार में सजना दूर दूर हो गए तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए कोई बना बात हम्म। तो है तुमसे हर खुशी अपनी बस कोई मन गाना गा लगता है छोड़ दे सारी दुनिया हम कौन है हम नासिब नहीं आता है छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए प्यार से भी जरूरी कई काम है प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या मन से मन का मिलन तो ये कम तो नहीं मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं खुशबू आती रहे दूर पास में हो चमन कोई कम तो नहीं प्यार मिलता नहीं सबको संसार में है दिया ही बहुत रोशनी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुना काम है प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए हाय हाय ये मजबूरी तो ये मौसम और ये दूरी मुझे पल पल है तरसाए तेरी दो टकिया की नौकरी अभी नहीं भैया सब लोग आने जाएंगे सब नहीं अभी नहीं आएंगे सब कब आएंगे सब तो जाएंगे आज आज सुनो लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी कौन है वो अपनों में कहीं ऐसा कहीं होता है ये तो बड़ा धोखा है लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी यहीं पे कहीं है मेरे मन का शोर नजर पड़े तो बहिया दू मरोड़ जाने दो जैसे तुम प्यारे हो वो भी मुझे प्यारा है जीने का सहारा है देखो जी तुम्हारी यही बत्तियाँ मुझको है तरसाती लूटे कोई मन का नगर हो लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी Thank you.